और आप हर उम्मत को घुटनों के बल गिरा हुआ देखेंगे हर उम्मत अपने नामा आमाल की तरफ बुलाई जाएगी आज तुम्हें वही जजा दी जाएगी जो तुम अमल किया करते थे